जैसे बालक और आपस में किसी को राजा बना देते हैं खेल खेल में ऐसे ही तुम लोगों ने किसी मूर्ख ने तुमको भगवान कर रखा है भगवान बना दिया है ऐसे भगवान के पास दूध हो गया तो इसलिए तुमने तो अपना बाप को नाम रखा और छोड़ दो वो उनका भेजा हुआ दूध द्वारा पहुंचा सौ सभा लगी थी उसमें दूत ने उसका कॉर्नर का पथ सुन अहम वासुदेव देंगे अरे वासुदेव तो मैं हूं दूसरा वासुदेव अपना नाम नहीं कर सकता तो मिथ्या विधान चल झूठे ही तुम वासुदेव नाम अपना कर है तो छोड़ देना वासुदेव और तुम मेरे चिन्ह में वो जो है उनको धारण करना बंद कर दो अस्मत चिन्हानी मौत का माम शरण में विवेक शरण में अन्यथा उत्तम नहीं अन्यथा मेरे से उसका ये पत्र सुन करके सारी सभा हंसने लगी बोले संसार में लोगों की कमी नहीं है भगवान श्री कृष्ण का ये प्रभाव देखते हुए भी ऐसे ऐसे लोगों की प्रशंसा कहते हैं श्री कृष्ण को कह रहे हैं तो अपना वास्तव नाम करना छोड़ तो इसके बाद तथा प्रयास कथा कथा मंत्र गौतम कृष्ण मंत्र जब वहां प्रयास कथा हो चुकी भगवान ने दूसरे दूध से कहा कि लो भाई हम अपनी चीज छोड़ देंगे पर वहां उसके ऊपर ही छोड़ेंगे तथो दूतस्तम संदेशम सर्वम स्वामी ने कथया सौंदर्य तो से आकर के संसारा संदेश करेंगे भगवान श्री कृष्ण रथ में बैठ करके काशीपुरी में पहुंचे तो जो है वो भी अक्षण सेना लेकर के और भगवान से लड़ने के लिए निकल पड़ा तो उसने भगवान श्री कृष्ण का जो साधु बना रखा था रूप सौंदर्य में उसको दो हाथ को थे उसने दो हाथ और बनावट लगाया चार हाथ अपने कर लिए और चार हाथों में संत चक्र गदा पद्म जैसे श्री कृष्ण के ऐसे बनावटी सुन गई वस्तु मणि और जो बनमाला में जैसे बनाई पीले पीताम्बर पहन और एक बनाते कृत्रिम गर्व बनवा लिया ऐसा उसने मशीन लगा ली उससे चलता था हाँ, गरुड़ बिल्कुल जैसे तो, हाँ, तो उसका सब बनावटी जब भगवान ने देखा तो बिल्कुल मिला हुआ है उनसे एक एक वस्तु मिली भगवान ने भाई नकल से उसने पूरी की भगवान निकम दृष्टा जहा था भगवान बड़े भगवान ने उसकी सेना को विजय कर डाला ऐसे स्थान चक्र ने खंडिता जब भगवान श्री कृष्ण पौंडर से बोले के पौंडर लोग कहने तेरी के अपने चिन्हों को छोड़ दे तो हम अपने चिन्ह के ऊपर ही छोड़ दे ऐसा कह करके तीन सुधार के पौंडरकम व्यर्थम थे उन पौंडर का रस तोड़ दिया और सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया बोले श्री कृष्ण अब बनावटी देश भगवान का बनाया तो भी उस बनावटी देश से उसका भगवान के शब्द स्वरूप हो तथा पंड तो हरे रूप प्राण स्तन नहीं हो जाता भगवान का रूप धारण कर, करता था वैसे इसलिए कहते हैं उसको भगवान की प्राप्ति जो नकली बुझा हुआ है नकली गवर्नमेंट ने नकली बना दिया कौन देखो हरे जीवन विश्वास कन्नरो था काशी राज में था वहां से उसका शरीर भगवान ने काट दिया और काशी पुरी में जाते थे उस काशी राज का पचास लक्षण उसमें भगवान शंकर की आराधना की और भगवान शंकर प्रसन्न हुए बोले क्या मानता है कि मेरे पिता को जिसने मारा है उसके पद का उपाय आप हमको बताए भगवान शंकर ने कहा सुदक्षिण हृदय तू ब्राह्मणों के द्वारा अधिकार विधि से दक्षिणाग्नि निवेदन कर वहां से अग्नि प्रकट होकर के जिसको पिता के पिता को जिसने मारा है वो अग्नि से भस्म कर गर्भ ब्राह्मण का भक्त न हुआ तो ब्राह्मण का भक्त हुआ तो तुलसी बात हो जाएगी बस इतना खेल निकाल दिया भगवान का उसने उसने यज्ञ किया उनसे मूर्तमान बड़ा भयंकर उग्रकष्टा पूर्ण को लग्न आत्मकुशुल्य द्वारका की ओर चला उसको देख करके द्वारकावासी डर गए महाराज गुप्ता सिंह भयंकर भी जा रही है भगवान बोले घबरा मत तथा कोट सदृशम एवं सुदर्शनम भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया सुदर्शन चक्र से पीड़ित होकर के प्रत्यानंद था वो लौट करके आया और जो हवन जन कर रहे थे उन्हें सबको भस्म कर दिया बोलिए श्री कृष्ण अच्छा एक एक बार दुबिन नाम आए बानर वो दुनिया दूसरा था राम जी का जो भगत था ये असुर था ब्रह्मासुर का मित्र था तो वो वृक्षों को उखाड़ के पर्वतों को उखाड़ वहां आ गया द्वारका में कब्र करने के लिए पुरुषों को स्त्रियों को ले जा वहां में जाकर के द्वार बंद कर दे बड़ा उपद्रव किया उसने आगे द्वारका में बलदाऊ जी बैठे थे अपने स्त्रियों के बीच में गाना बजाना हो रहा उनका कल साफ आकर छोड़ दिया वृक्ष के साथ बैठ गया उनकी तरफ जो है वो जो दुष्ट बांधो वृक्ष शाखा मानेंगे ध्रुवान कंपयन वृक्षों को हिला दे चिलचिला शब्द करे स्त्रियों को धमका दे बलदाव जी ने लेकर के एक पत्थर मारा तो पत्थर से बचा लिया वो तो कान में देता है आकर के उन स्त्रियों के वस्त्र फाड़ दिए उसे बलदाव जी ने देखा है बड़ा दुष्ट है तो बलदाव जी ने अपना मुंह फल लेकर के उसके एक सिर में मारा की पारणा साधन दुर्ज ने भी एक वृक्ष उठा करके बलदाव जी को मस्कर से मारा और उसका पति का मस्तक घट गया रक्त की धारा बहने लगी तथो तो अन्य वृक्ष ने राम जगह और वृक्ष उखाड़ लिया बंदाऊ ने उस वृक्ष को भी काट दिया ऐसे उसने बहुत फैसला भ्रष्टाचार उठाते हैं कभी ने आकर के बलदाव जी की छाती में मुक्का मारा बलदाव जी ने हल मुसले चपका अपना और उसकी एक कनपति का एक मुक्का मारा उसके मुख से उधर बहने लगा और से होकर पृथ्वी पर गिर एक बार दुर्योधन की दुर्योधन अपनी कन्या का स्वयंवर कर रहा तो उसकी कन्या का नाम था लक्ष्मणा दुर्योधन की कन्या का नाम लक्ष्मण वहां शाम पहुंच गया भगवान का पक्ष तो बिना बुराई पहुंच जाते राजकुमार तो वहां स्वयं हो रहा था राजकुमार सब बैठे थे दुर्योधन की कन्या हाथ में जयमान लेकर के अपना वर निश्चित करने के लिए आ रही है तो किसको हम अपना वर बनाने किसकी गली में माला डालें सामने हाँ, देखा न मालूम किसके गले में डाल दे माला और हम यहाँ आए ही हैं तो अगर से जी सवाल में उठ के खड़ा हुआ और उसको पकड़ के और अपने घर में बैठा के चल दिया दुर्योधन स्थान लक्ष्मण स्वयं स्थान शाम्भो जहा इतनी सभा के बीच में और वो उस कन्या को लेकर बैठा रखने और चल दिया जाता था अब तो और लोग बड़े दौड़ने लग गए अरे अयम बालो दुर्विनीता अरे है कोई गलत सब बड़ा ठीक है इसने हम लोगों को कुछ समझाया नहीं है अच्छा इसको बात लो फिर किसी ने कहा ये यादवों तो अभी कृष्ण का पुत्र है ये फिर क्या होगा तो अच्छा ही फिर यादव जो हमारा क्या करें असमत दत्ता महीन होंगे थे हमारी कृपा से तो राजे बने हुए हैं अगर इसको हम माने देते हैं और इसको इसका बंधन समझ करके वो आएंगे यहाँ तब उनका गर्व और उनका अहंकार यहाँ चूर्ण हो जाएगा तो लोगों ने भीषण जी से पूछा घाट आपकी आज्ञा हो तो उसको पढ़ लड़ते तो हम पढ़ेंगे पिता जी का प्रवर भीष्मान बोधता कर्ण और कर्ण दूर भूषण दुर्योधन बड़े बड़े योद्धा गए और शाम को पकड़ने के लिए शाम को खड़ा धनुष बाढ़ में खड़ा हो अकेला हे पुरुष सांब कुर्बानी ही धीरास्त्र सत्कर्म किए और काम से रक्षा करने लगा इन लोगों को और लोग उसकी प्रशंसा करने लगे है तो बड़ा बीज उसके चार चार बीजों ने उसके चारों घोड़े मार दिए एक ने उसका सारथी मार दिया एक ने धनुष लिए छह योद्धा थे अब तो शाम को पकड़ के ले गए अपनी लड़की को ले आए वापस से लोग ततो बुलिहादवा नाराज बंधन सकता नारद जी का काम नहीं रहता पहुंच गए किसी ने पूछा भगवान बोले नारद जी यहाँ सामने नहीं दिखता कई दिन से कहां गया गया कहा वो तो कौरवों की जेल में पड़ा है क्या कारण बताया अब तो वहां गाड़ी बजने लगे युद्ध की तैयारी होने लगी तो बलदान जी आ गए मेरे क्या बात है और उन्होंने बताया किस तरह से अचानक और युद्ध की तैयारी मत करो लोग हम जाते हैं और बलदाव जी कुछ अपने साथ वो सबको समझा करके वहां से बलदाव जी अपने साथ कुछ ब्राह्मणों को लिया ब्राह्मण ही कुल वृद्ध ही सब वृद्ध पुरुषों को साथ लिया कि जो वृद्ध पुरुष होते हैं वो शांति चाहना करते हैं इसलिए युवकों को साथ में नहीं लिया ब्राह्मणों को साथ में लिया रथ में बैठ करके हस्तिनापुर पहुंचे भाई आपस में लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं होता है कोई बात होगी हम हम जाते हैं जाकर के उन्होंने सूचना भेजी जाओ दो यहां बलदाव जी आए हुए और तो जब वो सुना बलदाव जी आए हैं तो सब लोग फौरन लोग उनसे मिलने के लिए आए कुशल सर ने पूछी अंत में बलदाव जी ने कहा हे पुरवा अरे उग्रसेन महाराज की जो आज्ञा है उसको तो सुन सुनो महाराज क्या आज्ञा है तुम बहुत से लोगों ने एक बच्चे को अरे छह छह व्यक्ति एक बच्चे से लड़ते हैं अधर्म से तुमने उसको जीत करके बांध लिया है यदि आपस में तुम शांति चाहते हो और तत्काल तमान्य शीघ्र समर्थ है और उस धाम को ला करके और हमारे पास ला के खड़ा कर बलदेव जी के इन वचनों को सुन करके आप सब शोर में भर ले क्या अच्छा, अरे काल की गति कैसी विलक्षण है आज पैर की जूती सिर पर चढ़ना चाहती है हम्म। तो अचानक सिरा आरोप में क्षति ये कैसे आश्चर्य की बात है हमने प्रथा का संबंध इनसे कर दिया तब से ही हमारी बराबरी के बन गए विश्वास तुल्यता मिलता अगना यमुना राज छीनने जलम अब इनके राजाओं को जमीन पर छीनने इनसे छीन लेना चाहिए अरे भीष्म द्रोण अर्जुन अगर तम इंद्रो भी गतम सूत्र इनके विपरीत निर्वी कैसे चिन्हों को स्वीकार कर सकते बीच भद्रवण अर्जुनाथ भी अधिकतम मंत्रों की कथन सुनती ऐसे ऐसे वीर लोग हमारे यहां हैं यादव तो यादव कितने बलदाव जी ने जब उनके कठोर वचनों को सुना तो बलदाव जी बोले अरे हम तो शांति चाहते थे पर तुम शांति नहीं चाहते येन श्री कृष्ण न पारजात आनंद जिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को जीत करके जात न लाए तो वो हम लोग सिंहासन के योग्य नहीं है जिनके चरणों की लक्ष्मी उपासना करती है वो राज सिन्हा के योग्य नहीं अच्छा और भयम था पूर्वक से और जो कहते हो कि आज पैर की ड्यूटी सिर पर जा रही है तो बोलो हम जूते के संत के स्थान पर है तुम्हारा तुम गौरव सिंह के स्थान पर दास क्रोध में भर करके दाऊ जी ने हलाक रहे हैं प्रमुख का तो हस्तनापुर का जो अपना हलाक रहे हल्का के नीचे जमीन में लाड़ दिया और गंगा नीचे बाकी थी पहले ऐसे थोड़े से जल तो तो खुद जो है वो अपना पुत्र उखाड़ करके गंगा में डुबाती तुरंत जाके गंगाया कुछ करता और जो है उसको उखाड़ करके उस गंगा की ओर खींचने लगे और सारा वो जो है हस्तनापुर लवा को समान खालने लग गया गंगायाम पकमान नगर में विरोध सारा नगर का नगर गंगा में गिरने को जब तैयार हुआ तो एकदम कौन लोग जो है डर गए और जीवन की इच्छा से और ये तो महाराज सारे नगर को तो चले रहे रहते हैं अभी जट दुर्योधन ने क्या काम किया तो जट अपनी लड़की को साथ में लेकर के और शाम को साथ में लेकर और लड़की लड़का का मन को सामने खड़े कर दिए और बोले हे राम हे राम हम पराक्रम में जानिए आपके पराक्रम को हम नहीं जानते हम भूल हैं हमारे पराक्रम क्षमा करो तब वो को असल शिक्षा आप क्रोध क्रोध भी करते हैं तो उससे भी शिक्षा ही मिलती है हम उस दुकान में शरण लगा इस तरह से उन्होंने क्षमा मांगी और दुर्योधन ने फिर भाई भगवान कुंजरा हाथी कष्टे आयमान सात वर्ष का नीचे अवस्था सात वर्ष की अवस्था का आर्थिक जवान माना जाता है द्वादश शतायातान तिरंगमा रथानाम सक्षण वर्तमान सूर्यवर्त दासी नाम निष्कंठान सहस्रम दोस्त इतना परहेज दुर्योधन ने उनको साथ नहीं दिया और इस तरह से जो उसकी कन्या को लेकर के शाम को लेकर के बलदाव जी लौट करके द्वारका में आए और नारद जी के मन में एक दिन ये बात आई उन्होंने सुना भगवान ने वो सोलह हजार जो कन्याएं भेजी थी ना और एक मुहूर्त में ही एक ही रात्रि में सबके साथ विवाह हुआ भगवान ने कहा ये पंडित जी वैसा मुहूर्त निकाला इसी दिन में के साथ करके ले आते हैं तो उस द्वारका में सोलह हजार जगह जो है मंडप बने अलग अलग सबके और उतने भगवान ने रूप धारण करके और सब कन्याओं के साथ अलग अलग विवाह किया सबके मकान अलग अलग सबके बहुत अलग तो नारद जी ने कहा हमने सुना है एक मुहूर्त में कैसे जाकर लिया होता है एक रात एक आदमी ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी कर दो चार हजार हो सकता है दो तीन घंटा तो लगते हैं तो नारद जी तो आश्चर्य हुआ और देखने के लिए आए कि भगवान की रहनी सहनी कैसे कैसे रह रहे हैं सबके साथ नारद जी आए कह रही हो रुक्मिणी के घर में गई सबसे बड़ा महल है बीच में भगवान जाप को पंखा रहे थे भगवान सिंहासन रहे थे नारद जी को देखा भगवान आपके खड़े हो गए और महाराज कब आए गए रुक्मी जी खड़ी हो गई रुक्मी ने भी से प्रणाम किया भगवान ने प्रणाम किया और सिंहासन पर नारद जी बैठे भगवान बोले बैठ गर्म से धोकर के जगत गुरु गोरख यदि भगवान जगत गुरु है कृष्ण बंदे जगत गुरु गौरी नारायण जी का खोया हुआ चरणों का जल से प्रदान किया और विधि विधान के तहत ये नहीं है कि रोज आता ही रह जाए चाहे रोज खान का पूजा है आज से नहीं तो देवर्षम संपूज्य नारायण बिना देवर्षम संपूज्य जगह विधि विधान से नारायण जी का पूजन करके बोले बयंते किन कर नारायण जी अब जो साहब हमें कोई आज्ञा करो आपकी सेवा आपके चरण हमको तो मोक्ष देने वाले हैं भगवान नारद बोले हे अपने लोकनाथ आप तो विश्व के पति है ये आकार आपका जगत के कल्याण के लिए है दुष्टों को आप ग्रहण करते हैं साधुओं का सम्मान करते हैं मर्यादा को स्थापित करते हैं यथा पर स्मृति सा तथानुग्रहण करो आपका स्मरण बना है ऐसा ही कृपा करते रहो हमको और हमको कुछ नहीं चाहिए और नारद जी वहां से दूसरे घर में गए अन्य ग्रह प्राचन तथापि स्त्री और धर्म सब वहां उद्धव के साथ भगवान बैठे थे आशा खेल रहे थे तो एकदम उठ करके खड़े हुए तो नारद जी कब आए हरा जल्दी लगे तुम कहा आया था एक प्रश्न महाराज हम तो अपूर्ण है गृहस्थी हैं बस आप तो सदा पूर्ण ही रहते हैं आपको कोई कामना है नहीं तो भी बताओ आप क्या करो हम आपको क्या सेवा तथा लोग जन्म साफल जन्म आप कुछ हमसे सेवा लेंगे हमारा ये जन्म सफल हो हमारा जी कुछ नहीं बोले चुपचाप वहां से फिर दूसरे घर में चले वहां जाकर के देखते हैं कि शिशु हैं हम बात बच्चों को खिलाए गोविंदम दर्शो वहां नारद जी ने आपसे आंख नहीं मिलाई खिलाने दो बालक जो पर दूसरे घर में बसे वहां जाकर देखा तो स्नान की तैयारी कर रहे हैं जल स्नान करना चाहते हैं घर से जी और घर में गए जाति था तो वहां हवन कर रहे हैं यथाग नील जुगवंता हाँ, कई पंच महायन कर रहे हैं एक जगह जाकर देखा क्या कर रहे हैं ब्राह्मण बैठे हैं उनको भोजन करा रहे हैं महाराज लोग माल की और खीर ले जब से भी और घर में जाकर जो लगता हुआ तो आप ब्राह्मणों को भोजन का करा चुके हैं स्वयं फिर भोजन कर लेंगे अवशेष पर हनन भूल जाना एक जगह नारद जी ने जाकर देखा तो क्या है आसन में बैठे के संज्ञा कर ब्रह्म के बंतम गायत्री जब करें कहीं जाकर देखा तो बच्चों को परिवार चलाना सिखा रहे एक जगह देखा तो फलन का सो कहीं जाकर देखा तो बंदीगण उनकी स्तुति कर रहे हैं कहीं ब्राह्मणों के लिए गौदान तो कर रहे हैं एक जगह जाकर देखा तो बड़ी सभा लगी हुई है और पंडित जी पुराण की कथा कह रहे हैं और भगवान चुपचाप सुन रहे हैं इतिहास पुराणी श्रृणवंतान कहीं धर्म का सेवन कहीं अर्थ का सेवन कहीं परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं एक जगह बेकार अपने गुरु जी आए उनकी सेवा कर रहे हैं कई व्यक्तियों को विदा कर रहे हैं कई बाहर से आएंगे उनका सम्मान कर रहे हैं कई देश बदल करके उसके नाम भाव ज्ञात में क्या ग्राहक विषादन दत्ता धर्म का कौन कैसा विवाह कर रहा है उसको छिप करके देखना ये सब देख करके नारद जो है हंस बोले हे योगेश्वर तब गोवा वो माया विदाना मैंने आपकी वो माया का प्रभाव देख लिया और मेरे को जाने के लिए आज्ञा दीजिए आपकी लीला प्रदान करता हुआ संसार में मैं भ्रमण करूंगा भगवान बोले ब्राह्मण धर्म से वक्ता हूं कर्ता पदम मोदिता देवता मैं धर्म का वक्ता ही वक्ता नहीं हूँ मैं धर्म का आचरण करके भी दिखाता हूँ कर्ता पदम मोदिता लोगों को शिक्षा देने के लिए ये मेरा आता है बेटा खिन्न मत होना मेरे माया का प्रभाव देख करके विचलित मत होना अब यदि तो चरण का भवन किया और समस्त धारण किया और बेटा बेटा ये मत समझे ना था हमने सब कुछ कि हम चेले बन गए हम भगवान बोले बेटा फिर माँ कराओ इसमें आज के कुछ मत करो हम धर्म के भक्ता भी हैं स्वयं आसन करके बताते ऐसा भगवान जो है उनके दिन जब तक यज्ञोबंध नहीं होता तब तक शास्त्रों का आज्ञा नहीं होती कोई कोई विधान नहीं होता बच्चे पर जब तक क्या विधान है शास्त्र तो ये मक्खन या चलाना है या करना रास लीला करना लड़का लड़कियों में खेलना ये तो छोटे थे भगवान नौ वर्ष की अवस्था तक दस आठ नौ वर्ष के थे और दस वर्ष में जाकर तो उनका योग भी हो गया नुकसान तो उसके बाद मर्यादा से जो कहते हैं ना राम जी का अवतार था मर्यादा पर जो श्री कृष्ण मिले गुरु जो उनके ये भी मर्यादा पर होते हैं